द्वितीय प्रकरण का श्लोक देखे थे उसमें कहते हैं जैसे मंद अंधकार हुआ तो रज्जु का स्वरूप निश्चय नहीं हुआ तो फिर सर्पधार आदि नाना प्रकार से वो रज्जु कल्पित विकल्पित हो गया इसी प्रकार की तद्वत आत्मा विकल्पित वहां मंद अंधकार भगवान भाष्यकार कह दिए कि मंदा अंधकार मंदा अंधकार अर्थात तो स्वरूप का निश्चय नहीं होने का जो हेतु उसी को मंदा अंधकार कहा गया दृष्टांत में मंदा अंधकार क्योंकि वहां रज्जु का स्वरूप निश्चय करना है रज्जु का स्वरूप क्यों निश्चय नहीं हो पाना कहते हैं मंद अंधकार किंतु मंद अंधकार यहाँ उसका तात्पर्य नहीं कि मंद अंधकार मंद अंधकार है कि वो हेतु जो कि स्वरूप को निश्चय होने में मतलब नहीं देता है उसी को मंद अंधकार शब्द से कहा गया तो जहाँ जिस प्रकार की जूस हेतु के चलते स्वरूप का निश्चय नहीं हो रहा है उसको मंद अंधकार कहा जाएगा इसी प्रकार के आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं होना ये भी कहा जाएगा मंद अंधकार मंद अर्थात ईश्वर अंधकार अर्थात अज्ञात तो थोड़ा अज्ञान होने से ये अर्थात आगे फिर उसमें कल्पना होता है अगर बिल्कुल अज्ञान होगा रज्जु अगर बिल्कुल भान नहीं होगा तब तो, तो कोई कल्पना नहीं होगा इसी प्रकार की अगर आत्मा का भान बिल्कुल नहीं होगा तब तो फिर कोई कल्पना नहीं होगा आत्मा का भान हो रहा है मंद अंधकार अर्थात आंशिक अज्ञान हो रहा है आंशिक अज्ञान आंशिक अज्ञान होने से ही आगे इसे कल्पना होगा पूर्ण अज्ञान हो जाने से नहीं होगा तो मैं इस प्रकार भान तो सबको हो रहा है किंतु जो वास्तव स्वरूप है स्वरूपेण नहीं हो रहा है हम जो असंग कुटस्थ इस प्रकार रूप से आत्मा का भान नहीं हो रहा है अच्छा ये सप्तश श्लोक हो गया था तो ये दिखा दिए कि मंद अंधकार होगा तो स्वरूप का निश्चय होने से विकल्प होगा और जो मंद अंधकार नहीं है पूर्ण ज्ञान है तो अभी स्वरूप का बिल्कुल निश्चय हो जाएगा रज्जु का स्वरूप अगर निश्चय हो जाएगा तो फिर विकल्प होगा नहीं, नहीं होगा तो इसके लिए आगे कहते हैं टीका में सप्त अष्टादश अष्टादश श्लोकों का टीका में अविद्याकृता जीव कल्पना इति अन्वय मुखे न उत्तम अविद्या है तो जीव का कल्पना हुआ तो ये अन्वय कहा गया कारण सत्व कार्य सत्व तो पूर्व श्लोक में कहा गया था कि जीवम कल्पयते पूर्वम पहले जीव का कल्पना करेगा अविद्या होने से पहले जीव का कल्पना करेगा अविद्याकृता जीव कल्पना इति अन्वय मुखेन उत्तम तद एव इधानी व्यतिरेक मुखेन दर्शयति अभी उसको व्यतिरेक मुख से दिखाते हैं अर्थात अविद्या नहीं है तो जीव कल्पना नहीं होगा श्लोक कहते हैं यथा रज्जुरेव इति निश्चितायाम रज्ज्वाम विकल्पो विनिवर्तते तद्वत आत्मविनिश्चय च अद्वैतम यथा रज्जुर एव इति निश्चितायाम रज्जु ही है अर्थात तो स्वरूप पूरा निश्चय हो जाता है ऐसा निश्चय होने से विकल्पो विनिवर्तते विकल्प का ये निवृत्ति हो जाती है रज्जुआम विकल्पो विनिवर्तते रज्जु का स्वरूप जब निश्चय हो जाता है फिर रज्जु में और विकल्प नहीं होता है तदवत इसी प्रकार की आत्मविनिश्चय च अद्वैतम आत्मा का जो विनिश्चय हो गया आत्मा का विनिश्चय अर्थात उसका स्वरूप निश्चय हो गया आत्मा का स्वरूप कैसा है कहता है मैं कुटस्थ हूँ असंग हूँ अर्थात मेरे में कोई भी धर्म का आरोप नहीं हो पाएगा इस प्रकार की निश्चय जब हो जाएगा तो होने से फिर क्या हो जाएगा मैं अद्वैत हूँ तो मैं असंग हूँ कुटस्थ हूँ जब निश्चय हो जाएगा बाकी कुछ भी और उसमें कल्पित कल्पित पदार्थ को कल्पित मान लेगा तो अधिष्ठान जो है अद्वैत रहेगा जगत को कल्पित इस प्रकार के निश्चय कर पाना अर्थात जिस समय में ये जगत हमको प्रभावित करने के लिए आ रहा है अर्थात सुख दुख से प्रभावित संबद्ध कराने के लिए आ रहा है उस समय में अगर हमारा ये वृत्ति उठेगा कि हम असंग है कूटस्थ है इसका संबंध हमारे साथ नहीं होगा इस प्रकार के विचार उठ पाएगा जाने का और उस सुख दुख का प्रभाव इतना नहीं होगा सुख दुख का थोड़ा दिखेगा किंतु उसका प्रभाव इतना नहीं होगा क्योंकि अंदर से उसका स्वर उठ रहा है कि हम कुटस्थ है हम असंग है इस प्रकार की तो बार बार जब हम सुनते हैं विचार करते हैं तब इस प्रकार की लगता है धीरे धीरे सुख दुख हमसे दूर दिखेंगे टीका रज्जु रेवेदी रज्जुआम निश्चितायाम तदज्ञान निवृत्त तदुत्थ सर्वाधि विकल्प सर्वथा निवर्तते रज्जु मात्र च अवशिष्यते तद्वद आत्मनि स्रौतो निश्चय यदा संपद्यते तदा सर्वस्य आत्मा विद्या कल्पितस्य जीवादि विकल्पस्य व्यावृते अद्वैतम एव आत्म तत्व त छूट गया आत्म परिशिष्य रज्जुर एव इति रज्जुर एव एव कह करके अवधारण कराते हैं तो रज्वाम निश्चितायाम रज्जु विषय में इस प्रकार के निश्चित हो जाने से स्वरूप निश्चय हो जाने से किस प्रकार के निश्चय कहते हैं रज्जु रेव एव कहने का अर्थ फिर और किसी प्रकार की विकल्प का वहां स्थान नहीं है निश्चय हो गया तद अज्ञान निवृत्तेर तद पद से रज्जु रज्जु अज्ञान का निवृत्ते है निवृत्त हो जाने से पंचमी तद उत्थ तद उत्थ अर्थात रज्जु अज्ञान उत्थ उत्तिष्ठती उत्थ सर्प आदि विकल्प रज्जु अज्ञान होगा तो भी सर्पादि विकल्प होगा सर्वथा निवर्तते जब रज्जु एवं इस प्रकार की निश्चय हो गया अज्ञान निवृत्त हो गया तो विकल्प भी निवृत्त हो जाएगा क्योंकि अज्ञान हो गया कारण विकल्प हो गया भ्रम कार्य भ्रम होने के लिए महाराज बोल रहे थे ना भ्रम अगर होगा तो उसका कारण अज्ञान रहना पड़ेगा तो अज्ञान अगर रज्जु का अज्ञान ही चला गया तो फिर रज्जु विषय का भ्रम नहीं होगा तो अज्ञान संपूर्ण निवृत्त हो गया होने से सर्पादि विकल्प विकल्प जो होता है भ्रम भ्रम अर्थात अन्य रूप से दिखना सर्वथा निवर्तते और रज्जु मात्र च अवशिष्यते रज्जु मात्र रज्जु मात्र अर्थात मात्र कह करके विकल्प का निषेध किया गया अर्थात कोई विकल्प नहीं रहेगा ये शायद वार्तिक में कहा गया अवशेषो ही नाश कल्पित वस्तुन कल्पित वस्तुन नाश क्या है कहते हैं अधिष्ठान अवशेष कल्पित पदार्थ का नाश हो जाना अर्थात मैं इस प्रकार की ही यह रह जाना तो कोई संबंध नहीं है मैं असंग हूँ कुटस्थ हूँ इस प्रकार की रज्जु मात्र च अवशिष्यते तो ये जो कूटस्थ असंग ये हमारा स्वरूप जितना जितना ये वैराग्य दृढ़ होता है उतने उतने ये कूटस्थ असंग ये बोध आएगा एक दृष्टांत तो कहता हूँ किसी एक घटना में हमको जाना पड़ा एक जगह तो वो कुछ दुष्कर्म में लिप्त थे तो गया था कि कहने के लिए ये नहीं करना है ये अच्छा नहीं है वो किंतु क्रोध होकर के तो कहने लगे मैं असंग हूँ कुटस्थ हूँ मैं अंतर्यामी हूँ मैं चिद रूप हूँ हम सोचा ये तो मतलब ये गया तो अच्छा मतलब कैलाश का ये सुनते सुनते ये संस्कार हुआ किंतु अंदर में बढ़ता नहीं क्यों कहते हैं कि बुद्धि संसारी बुद्धि है संसारी व्यक्तित्व थे तो संसारी बुद्धि है तो अर्थात इस प्रकार की क्यों होता है क्योंकि अंदर में ये तत्व को जा नहीं पाता वैराग्य नहीं होने से वैराग्य नहीं होता तो मैं कुटस्थ हूँ वो तो कैसे होगा तो अहम तो ममत्व तो रहेगा वैराग्य नहीं है तो, तो ममत्व रहेगा ममत्व है तो अहम तो, तो रहेगा ही रहेगा मैं असंग कुटस्थ ये कैसे होगा तो जितना जितना ये वैराग्य बढ़ेगा वैराग्य कैसे बढ़ेगा कहते हैं समस्त रजस जितना हटेगा ये कैसे हटेगा जितना दुख भोग कर लेंगे उतना उतना बढ़ेगा <clears throat> वैराग्य खाली शारीरिक तल का बात नहीं है मानसिक तल का वैराग्य अधिक जिसको हम लोग उपरति कह देते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है सर्वथा निवर्तते रज्जु मात्रम च अवशिष्यते जो कल्पित पदार्थ चला गया था अधिष्ठान मात्र रह जाएगा तदवत आत्मनि स्रौतो निश्चय यदा संपद्यते उसी प्रकार की आत्मनि विषय सप्तमी स्रौत निश्चय स्रौत निश्चय था श्रुति से जो निश्चय होगा तो अहम अस्मी ब्रह्म इस प्रकार की जो स्रोत निश्चय यदा संपद देते जब होगा तदा सर्वस्य आत्मविद्या आत्मा विद्या कल्पित ये सर्व अर्थात अधिष्ठान को छोड़ करके बाकी जो है सब आत्मा विद्या कल्पित आत्मा विद्या में समाज कैसे कहेंगे आत्मन अविद्या आत्मा का अविद्या से ही ये कल्पित सब कुछ आत्मा अविद्या से कल्पित कौन कल्पित है कहते हैं जीव आदि विकल्प पहले जीव कल्पना होगा आगे जीव का भोग के लिए विषय कल्पना होगा तो ये सब जीव आदि विकल्प से व्यावृतेर व्यावृत हो जाने से पंचमी अंतर अद्वैतम एवं आत्मतत्व परिशिष्यते आत्मतत्व अद्वैत है वही रह जाएगा तस्माद आत्मा विद्या विजृंभिता जीव कल्पना इत्यर्थ ये सिद्धांत अपना निष्कर्ष कहा आत्मा का अविद्या होने से ही जीव का कल्पना स्वरूप का भावना निश्चय नहीं होने से ही मैं अंतकरण के साथ आध्यात्म करता हूँ जितना जितना निश्चय होगा उतना उतना तादात्म्य तो नहीं करेगा यहाँ तक श्लोकों का व्याख्यान हो गया आगे टीकाकर भाष्य का व्याख्यान करेंगे उसके लिए कह रहे हैं दृष्टान्त भागम व्याचस्टे टीकाकार कह रहे हैं कि भगवान भाष्यकार दृष्टांत भाग को पहले व्याख्यान करते हैं दृष्टान्त भाग हो गया रज्जु रज्जु का निश्चय हो जाना हम्म। भाष्य में रज्जु रेवेति निश्चय सर्व विकल्प निवृत्त हो रज्जु रेवेति च अद्वैतम यथा तो यहाँ तक हो गया दृष्टान्त भाग रजुर एव इति निश्चय निश्चय सती निश्चय हो जाने पर सर्व विकल्प निवृत्त जो सर्पधार आदि नाना प्रकार के विकल्प हो रहा था वो सब निवृत्त हो गया होने से रज्जु रेव च अद्वैतम यथा केवल रज्जु अद्वैतम अर्थात यहाँ अपेक्षिक रज्जु रेव इस प्रकार के अद्वैत जैसा हुआ यथा आगे टीका में तदवद इत्यादि व्याकरोती श्लोक का चतुर्थ पाद है तदवद आत्म विनिश्चय तो तदवद इसका भगवान वाष्यकार कहते हैं तथा तो नेति नेति इति सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्यालोक कृत आत्मविनिश्चय यहाँ तक देखेंगे तो टीकाकार कहते कि स्रोत विनिश्चय श्रुति से निश्चय होना चाहिए इसलिए कहते हैं कि नेति नेति इति अर्थात जो कुछ भान होता है उसको निषेध करना है निषेध करना है अर्थात ये कल्पित है उसका सत्ता पारमार्थिक नहीं है यही हो गया निषेध वो दिखेगा नहीं इस प्रकार की नहीं दिखेगा नहीं जब हम समाधि में है जब अगर अर्थात व्यावहारिक अवस्था में है तब तो दिखेगा दिखेगा किंतु उसका सत्यत्व नहीं रहना जैसे ये रज्जु अगर सर्पाकार में चित्रित तो हुआ है सर्प जैसा दिखेगा किंतु हमको निश्चय है ये रज्जु है इसी प्रकार की नेति नेति न इति न इति तो न इति न इति क्या करके भिक्षा दिखाते हैं भिक्षा अर्थात यथ किंचित ग्राह्यते तब सर्वम निषिध्यते न इति न इति अर्थात कल्पितम इति सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र तो ये शास्त्र नेति नेति शास्त्र क्या करता है सर्व संसार धर्म शून्य है ये शून्य कौन है कहते आत्मा सर्व संसार धर्म शून्य यशून इसमें इसी प्रकार की प्रतिपादक जो शास्त्र वो शास्त्र से जनित उत्पन्न होता है क्या विज्ञानम वो विज्ञान कैसा है कहते हैं सूर्यालोक सूर्यालोक जैसे अंधकार को ये नाश करता है इसी प्रकार के विज्ञान ये हो गया सूर्यालोक आगे तेन कृत आत्मविनिश्चय इस श्रुति के द्वारा कृत जो आत्म आत्मविनिश्चय अच्छा यहाँ तक पंक्ति आगे सब श्रुति का उदाहरण देंगे पहले टीका में सर्वस्यापि संसारात्मनो धर्मस्य आत्मनि आरोपित असत्वावेदकम यन निषेध शास्त्र तेन जनितम विज्ञानम एवं सूर्यालोकस तत्कृतो यो अयम आत्मविनिश्चय स एव अद्वितीय शिष्यते सर्वस्यापि संसारात्मन संसारात्मन संसार रूप संसार रूपकस्य संसार रूप कौन है कहते सर्वस्य से जितने सारे धर्म है संसार रूप है आत्मनि आरोपित आत्मा में आरोपित आरोपित कल्पित इसको असत्व कहने वाला अर्थात ये केवल कल्पित है आरोपित सर्व संसार धर्म से असत्व से आवेदकम यह निषेध शास्त्र ये सब असत है ऐसा कहने वाला जो निषेध शास्त्र निषेध शास्त्र यहाँ कौन कहा गया नेति नेति ये जो निषेध शास्त्र तेन जनितम विज्ञानम उससे उत्पन्न हुआ जो विज्ञानम विज्ञानम एवं सूर्यालोक भाष्य में दिया गया विज्ञान सूर्यालोक कहते हैं कर्मधार है विज्ञानम एवं सूर्यालोक तत्कृत तत्कृत तेनोकृत यो अयम विनिश्चय उसी से ये आत्मा का निश्चय होता है मैं कूटस्थ हूँ असंग हूँ बाकी सब तो मेरे में कल्पित है स एव अद्वितीय शिष्यते वो अद्वितीय है वही शेष रहता है जो कुछ ज्ञान होगा वो हम में कल्पित होगा हम में कल्पित नहीं होगा तो उसका ज्ञान नहीं होगा जब कहा जाता है कि रज्जु में सर्प देखता है तब तो ये कैसा कहा जाता है कहते हैं कि प्रमाता वहाँ रज्जु को नहीं देखता है किसको देखता है इदम को देखता है प्रमाता सर्प को प्रमाता नहीं देखता सर्प को तो साक्षी देखता है तो प्रमाता इदम को देखता है अभी प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य इदमाकार चैतन्य जो बीच में प्रमाण चैतन्य कहते हैं और इदम अवच्छिन्न चैतन्य जो प्रमेय चैतन्य ये सब एक हुए तो ये जो अभी चैतन्य हो गया ये एक अवच्छिन्न चैतन्य एक एक था अभी तीन हो गया मान लीजिए अभी तीन एक अवच्छिन्न चैतन्य हो गया इस अवच्छिन्न चैतन्य में एक अविद्या है जिस अविद्या का कार्य वो सर्प है तभी तो वो सर्प वो दिखेगा कब दिखेगा जब आप में वो कल्पित अर्थात आप अभी इदम अवच्छिन्न चैतन्य से भिन्न नहीं है जब तक आप इदम अवच्छिन्न चैतन्य से भिन्न रहेंगे आपको इदम का ज्ञान ही नहीं होगा क्योंकि प्रक्रिया वही है कि प्रमात्र चैतन्य और प्रमेय चैतन्य दोनों एक होगा तभी प्रमेय का ज्ञान होगा तो इदम का ज्ञान तभी होगा जब आप और इदम ये दोनों चैतन्य एक हो गया तभी जो इदम में कल्पित है वो आत्मकल्पित है तो वही पदार्थ का ज्ञान होगा जो आत्मकल्पित है यहाँ तो प्रातिभाषिक सर्प होने से तो जो जीव साक्षी जो देखने वाला वो जीव है तो जीव साक्षी वो सर्प को देखता है और जीव साक्षी इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी लोग नहीं देखते हैं ना जो देवदत्त देखता है तत्साक्षी देवदत्त अंतकरण उपहित चैतन्य उसको देखा जैसे ही प्रातिभाषिकों में हुआ कि वो सर्प आप में ही कल्पित है तभी आपको दिखेगा इसी प्रकार की व्यावहारिक पदार्थ अगर घट को हम देखते हैं प्रक्रिया कैसा होगा प्रमात्र चैतन्य प्रमाण चैतन्य प्रमेय चैतन्य सब एक हो जाएगा अभी छिन्न चैतन्य आप ही है और आप में घट कल्पित है कोई भी पदार्थ का भान होता है तो आप में कल्पित है जो आप में कल्पित नहीं है वो आपका भान नहीं होगा वो तो जब हम इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ के बारे में बोलते हैं जब आपको सुख होता है दुख होता है वो भी प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य में ही वो दिखता है तो प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य अर्थात आप जो पदार्थ आप में रहेगा वही आपको दिखेगा अर्थात आप में रहेगा अर्थात आप चैतन्य चैतन्य में जो अन्य पदार्थ रहेगा वो तो कल्पित ही होगा अर्थात जो आप में कल्पित तो होगा वही आप देखेंगे इसी को कहा जाता है दृष्टि सृष्टि कल्पित तो होगा तो देखेंगे तो अर्थात चाहे वो जीव सृष्टि हो चाहे ईश्वर सृष्टि हो ये कार उसको थोड़ा दो भाग कर दिया साधक को लिए मदद करने के लिए पंचदशी ग्रंथ आ गया तो ये कहता है कि पहले आप जीव सृष्टि को हटाइए जीव सृष्टि अर्थात दूसरे जीवों को नहीं देख दिख रहा है केवल आपको दिख रहा है ये व्यक्ति सज्जन है ये जीव सृष्टि हो गया ये एक साधु है कहते हैं ये तो ईश्वर सृष्टि है सभी को दिखता है उसका वस्त्र ऐसा है वो रहता है कहते हैं साधु है किंतु ये सज्जन है तो ये मतलब अच्छे है इस प्रकार की जीव सृष्टि हुआ ये जो अच्छा है ये कहाँ रहा कहते हैं आत्मकल्पित तो हुआ तो जो हमारे द्वारा कल्पित तो होगा वही हमसे ग्रहण होगा तो चाहे वो जीव सृष्टि कहे चाहे ईश्वर सृष्टि कहे अर्थात चाहे प्रातिभाषिक हो चाहे व्यावहारिक हो सब हमारे द्वारा कल्पित है ये जितना हम इसको अर्थात चलते फिरते समय कहीं मन इधर उधर जाता है इसको देख लिया इसको देख लिया कुछ चल चल गया ये अगर उठ जाएगा ये विचार जो हमको दिखता है वो तो हम ही कल्पना करते हैं वो तो हम ही है प्रक्रिया तो वही है तीनों चैतन्य एक हो गया उसमें ये दिखने लगा ये तो कल्पित है कि जितना जितना ये प्रक्रिया उठेगा उतना उतना हमारा ये मतलब ये प्रक्रिया सरल पड़ेगा दिन में अगर एक बार भी उठा जाने के उसका संस्कार हुआ ये उठना चाहिए ये उठेगा तो तभी तत्पदार्थ का शोधन होगा धीरे धीरे ये उठना चाहिए बार बार विचार करेंगे जो दिखता है वो हम में ही कल्पित है पहले जब जिनको ये प्रक्रिया समझ में नहीं आता उसको तो जबरदस्त कर देंगे दृष्टि सृष्टि आप जो देखते हैं आप कल्पित है वो बेचारा उसको रटता रहेगा मैं जो देखता हूँ कल्पित हूँ किन्तु जिसको प्रक्रिया समझ में आ गया उसका बुद्धि तो और मना नहीं कर पाएगा ना बुद्धि तो राजीव होगा हाँ बात ही ऐसे ही है तो जब ये बुद्धि में निश्चय होता है कार्य जल्दी होता है तो प्रक्रिया समझे और ये दिन में एक दो बार भी अगर ये हुआ तो उसका संस्कार बनेगा बार बार ये चिंतन करेंगे तो वास्तविक क्या है ना ये जो अभी हम कहा कि जो दिखता है वो हमने कल्पित ये तत्पदार्थ का शोधन का बात है जो दिखता है वो तो हमसे भिन्न है ना वो तत्पदार्थ का अंश है दूसरा हो गया तोम पदार्थ में तो ये जिसको तोम पदार्थ का शोधन हो गया है जिसको अनुभव हो गया कि मैं तो एक असंग पदार्थ हूं इस प्रकार के निश्चय होने के बाद वो तत्पदार्थ शोधन करने के लिए जा रहा है तो उसको जब ये तत्पदार्थ शोधन कर देगा वो ब्रह्माकार वृद्धि में आ जाएगा क्योंकि कहेगा ये जो दिखता है नहीं तो कल्पित है तो वास्तविक क्या है कहते हैं अधिष्ठान रूप अधिष्ठान कौन है जैसे ही अधिष्ठान उसका बुद्धि में आ जाएगा अधिष्ठान ही तो सत्य है अधिष्ठान कहने से जो उसको तोम पदार्थ शोधन होकर के जो अनुभव आया है मतलब निर्विकार स्थिति कोई अर्थात निर्विषय जो वृत्ति वो आ जाएगा वो ब्रह्माकार वृत्ति उसको हो जाएगा जिसको तोम पदार्थ शोधन हुआ है वो इस प्रकार की प्रक्रिया लगाने से उसको ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगा इस कैसे तुम पदार्थ का शोधन होने से मैं असंग हूँ कूटस्थ हूँ एक कूटस्थ असंग निर्विषय पदार्थ का संस्कार उसका अंदर में आएगा जब ये संस्कार आएगा जहां भी वो किसी का भी लय करेगा वही संस्कार आकर के खड़ा हो जाएगा उसको तब कहेगा कि ये तो तत्पदार्थ है किंतु खड़ा होता है तुम पदार्थ अर्थात बुद्धि में आता है तुम पदार्थ किंतु उसको स्टाम्प लगाता है ये तत्पदार्थ क्योंकि अभी तो हम को लय किया ना वृक्ष का अधिष्ठान में पहुंचा ये तो तुम पदार्थ तो नहीं है इस प्रकार की बुद्धि कहेगा फिर ये कुछ समय होने के बाद फिर एक दिन लगेगा कि नहीं नहीं ये तो वृक्ष का अधिष्ठान नहीं है वो तो मैं ही हूँ ये मेरे में ही कल्पित होता है तब वो एक ज्ञान होगा तो अगर तुम पदार्थ शोधन में नहीं हुआ किंतु हम इस प्रकार के बाहर पदार्थ को ये प्रक्रिया के द्वारा लय करने लगेंगे ये तुम पदार्थ शोधन को ये सहायक होगा जल्दी कार्य बनेगा अर्थात जगत का सत्यत्व को हटाएगा जितना जितना हटेगा हमारा बुद्धि बाहर जाना बंद करेगा अधिक अधिक अंतर्मुख होगा ठीक है तेन जनितम विज्ञानम एवं सूर्यालोक तत्कृत यो अयम आत्मा विनिश्चय स एव अद्वितीय शिष्यते वही अद्वितीय आत्मा ये रहेगा द्वैतम पुनः सर्वम एवं व्यावृतम भवती ये जो द्वैत है ये सब व्यावृत हो जाएगा व्यावृत हो जाएगा मिथ्या तो निश्चय हो जाएगा कल्पित कुछ भी द्वैत है कितना भी भारी है वो कहेगा ये कल्पित ये जान दो आत्मविनिश्चय एवं विषयनिष्ठि ये आत्मविनिश्चय उसका स्वरूप कैसा है कैसा अनुभव कहते हैं भाष्य में अंतिम शब्द है आत्मवेदम सर्वम अपूर्वो अनपरो अनंतरो अबाह्य सबाह्याभ्यंतरो यज अजरो अमरो अमृतो अभय एक एव अद्वय ये सब भगवान भाष्यकर इसे श्रुति देती है ये श्रुति का एक एक करके व्याख्यान करते हैं पहले हो गया आत्मा एव इदम सर्वम आत्मा एव इदम सर्वम ये ऐतरेय में भी ये वाक्य है और वृदारण्य में भी है तो आत्मा एवं इदम सर्वम ये कहने का अर्थ टीकाकार उसको स्पष्ट करते हैं पूर्व अच्छा नहीं इसके लिए व्याख्यान नहीं है आत्मा एवं इदम सर्वम अर्थात ये सर्वम जो भान हो रहा है इदम सर्वम इदम सर्वम कह करके स्व भिन्नतया ग्रहण करता है और ये सब क्या है कहते हैं आत्मा अर्थात मैं ही हूँ अर्थात मेरे में ही कल्पित है इस प्रकार के निश्चय होता है आगे कहा अपूर्व अपूर्व शब्द का अर्थ कि अविद्यमान पूर्वो यस्मात जिससे पूर्व कोई नहीं है पूर्व और पर में कौन मतलब कार्य कारण में कौन पूर्व होता है कारण तो यहाँ कहते हैं कि ये जो आत्म तत्व तो है अपूर्व अर्थात अविद्यमान पूर्वो यस्मात जिसके पूर्व में और कोई नहीं है पूर्व में कोई नहीं है अर्थात इसका कारण नहीं है तो इसका कारण नहीं है तो ये कार्य होगा नहीं होगा तो अपूर्व में बहुब्रीही करके इसका अर्थ हो जाएगा अकार्यम अकार्य में नय अर्थात ये कार्य नहीं है इस प्रकार की और अगर वहां भी आप बहुब्रीही करेंगे तो अकारण होगा अपूर्व का अर्थ हो जाएगा अविद्यमानम कारणम यश्य अविद्यमानम पूर्वम यश पूर्व का अर्थ कारण अविद्यमानम कारणम यश्य ये भी अकारण हो जाएगा और आगे दिया अनपर तो अनपर में समास कैसे कहेंगे अविद्यमान अपरो यश अपर अर्थात जो बाद में आने वाला अर्थात कार्य तो अविद्यमान कार्यम यश्य तो कार्य का अर्थ तो मतलब इस प्रकार कहने से अविद्यमान कार्यम यश्य बहुबरी करेंगे तो अकार्य बहुबरी नए समास करेंगे तो जिसका कोई कार्य नहीं है वो कारण होगा नहीं होगा तो न कारण मित्र अकारण तो ये अनपर जो है उसको आप अकार्य कह सकते हैं अकारण कह सकते हैं जो अपूर्व है उसको अकार्य कह सकते हैं अकारण कह सकते हैं समास आप कैसा कर पाएंगे तो अपूर्व कह रहे अपूर्व अनपर ये दोनों में तो बहुबरी है जिसका पूर्व में कोई नहीं है जिसका पर में कोई नहीं है अपर अपर अर्थात बाद में आने वाला इसके बाद में कोई नहीं है टीका में इसको देते हैं पूर्व भाविना कारण संस्पर्श शून्य अपूर्व पूर्व भावी होता है कारण कारण के साथ इसका कोई संबंध नहीं है अर्थात ये है इसका कोई कारण नहीं है अर्थात अकारण बहुरी नहीं करेंगे तो अकार्य ये कार्य नहीं है इसका कोई कारण नहीं है अथवा ये स्वयं कार्य नहीं है आगे दिया अनपर अनपर के लिए कहते हैं पश्चात भाविना कार्य न संबंध विधुरो विधुरो आगे अनपरो इस प्रकार की लिखना है वहां छूट गया पश्चात भाविना कार्य न संबंध विदुरो ओकार है आगे खंडाकार और न परो इस प्रकार की रहेगा खंडाकार और परो टीका में प्रथम पंक्ति में पश्चात भाविना कार्य न संबंध विदुरो आगे खंडाकार और न परो अर्थात परो अनंतर आगे का वो तो श्रुति में है आगे क्यों देखिए पहले अपूर्व का व्याख्यान किए ना टीकाकार हम्म। संस्पर्श शून्य फिर व्याख्या पद अपूर्व को फिर कहते हैं अर्थात व्याख्यान आरंभ करके व्याख्या पद को अंतिम में फिर कहते हैं इसी प्रकार की पश्चात भाविना कार्यण संबद्ध विधुर एक ही शब्द का व्याख्यान हो रहा है अनपर वो व्याख्या पद को कहना पड़ेगा ना इसलिए कहते हैं कि विदुरो आगे अनपरो अ तो खंडाकार हो जाएगा नपरो ये होगा आगे अनंतर शब्द का व्याख्यान करेंगे तो अनंतर बोल करके यहाँ पहले व्याख्या शब्द लिख दिए कहीं तो पहले व्याख्या शब्द लिखी करके आगे व्याख्यान देते हैं कहीं पहले व्याख्यान करके आगे व्याख्या शब्द देते हैं अनंतरम आगे भाष्य में है मंत्र में अपूर्वो अनपरो अनपरो आगे अनंतर अनंतर का व्याख्यान करने के लिए कहेंगे अच्छा ना ना यहाँ भी तो पहले व्याख्यान देते हैं अंतरम छिद्रम तत्शून्यो अनंतर अच्छा तो ये अर्थात छिद्र नहीं है छिद्र का व्यवधान व्यवधान नहीं है इसका अर्थ कहते हैं एक रसम इसको कहीं घन शब्द से भी कह देते हैं एक रसम अर्थात बीच में व्यवधान नहीं है व्यवधान अर्थात विजातीय पदार्थ के द्वारा व्यवधान होता है जैसे अजभीर अव्यवहित हल क्योंकि हल का व्यवधान अज के द्वारा होगा हल के द्वारा नहीं होगा इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं एक रस अर्थात विजातीय पदार्थ के द्वारा व्यवहित नहीं है अनंतर चिद एक रसम चिद है एक रस है एक रस अर्थात अव्यवहित तस्व प्रत्यक्व अबाह्यत्व अबाह्यत्व म आधा आएगा क्योंकि जो अंतिम में है ना वो बिंदी नहीं हो पाएगा बिंदी होने के लिए क्या सूत्र है अनुसार होने के लिए अनुसार पर में हल चाहिए पर में हल नहीं है तो इसलिए वहाँ मौकार हो जाएगा बाकी का अंत में तो मौकार आएगा आधा तस्व प्रत्यक्व क्योंकि अनंतर के आगे है अबाह्य अबाह्य क्या है कहते हैं बाहर नहीं है बाहर नहीं है अर्थात प्रत्येक अर्थात सर्वांतर अंदर वाला चीज है अबाह्यम प्रत्यक्तम अच्छा आगे हो बिंदी दिया क्योंकि आगे आपका कार्य कारण है ना तो यहाँ किंतु म के आगे विराम हो जाएगा आधा म आगे विराम किया है ऐसा हाँ, तो विराम करना पड़ेगा विराम तो है लेकिन अनुस्वार मतलब विराम है वहाँ अनुस्वार विराम था अच्छा ना अनुस्वार नहीं होगा फिर मकार हो हाँ, विराम तो है फिर के आगे का कैसे ये कैलाश वाला किताब नहीं है अबाह्यत्वम के आगे विराम नहीं है ठीक है मैं द्वितीय पंक्ति में हाँ, हाँ। कार्य आगे ठीक में कार्य कारण कार्य कारण अस्पृष्टम कार्य कारण अस्पृष्टम इसका अर्थ कहते हैं कार्य कारण अस्पृष्टम और उभय कल्पना अधिष्ठान तथा अर्थांतरत्व तो इसका बाहर में भी नहीं है और कोई अंदर में भी नहीं है तो अर्थात तो पहले कह दिया कि अपूर्व अनंतर के द्वारा कह दिया कि कार्य कारण के साथ संबद्ध नहीं है कार्य कारण अस्पृष्टम और उभय कल्पना अधिष्ठान तो कार्य कारण अथवा अंदर और बाह्य बाह्य और अंतर ये सब का अधिष्ठान कल्पना का अधिष्ठान जो कल्पना का अधिष्ठान होगा वो कल्पित से अर्थांतर होगा भिन्न होगा इसलिए कहते हैं तत्व अर्थांतर अध्यस्त से ये भिन्न है अर्थांतर इतिहा भाष्य में कहते हैं स बाह्याभ्यंतरो ये मुंडक है अपूर्व अनंतरो अनपरो अनंतरो अबाह्य ये तो आज बृहदारण्य में आया अंतिम मंत्र जो है तो अयम आत्मा सर्वानुभू अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू ये प्रथम खंड का अंतिम मंत्र है आगे सबाह्याभ्यंतरो यज ये मुंडक है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाह्याभ्यंतरो यज ऐसे पूरा मंत्र है आरंभ है दिव्यो हमूर्त दिव्य ही अमूर्त दिव्य कहने का अर्थ है प्रकाशमान क्योंकि दिव्य धातु ये द्योतनार्थक है तो दिव्य अर्थात प्रकाशमान अमूर्त अमूर्त अर्थात ये कोई आकार रहित निराकार है कैसे नैति नीति बृहदारण्य का ये द्वितीय अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण में भी आएगा द्वितीय तृतीय चतुर्थ तीनों ब्राह्मण में है नैति दिव्य अमूर्त और सबाह्याभ्यंतरो यज बाह्य आभ्यंतर के साथ है सबाह्य बाह्य न सहित सबाह्य और साभ्यंतर स का अन्वय दोनों के साथ स का अर्थ बहुब्री है पुत्र न सहित सपुत्र बाह्य न सहित सबाह्य बाह्य कौन है कार्य कार्य न सह ये है अर्थात कार्य का अधिष्ठान है अंतर कौन होता है अंतर कारण होता है तो साभ्यंतर साभ्यंतर अर्थात सकारण सकारण अर्थात कारण के साथ कारण के साथ अर्थात कारण का अधिष्ठान रूपेण कार्य कारण दोनों का अधिष्ठान रूपेण ये ब्रह्म है सबाह्याभ्यंतर का अर्थ जो टीका में दे दिया कारण कार्य कारण से अस्पृष्ट है और उभय कल्पना का अधिष्ठान है यही सबाह्याभ्यंतर शब्द का अर्थ है ये आया था इसमें रत्न प्रवाह में एक जगह में मंत्र दिया था वहां पर सब आ गया व्यंतर और अज अज अर्थात जन्म वाला नहीं है नित्य पदार्थ है आगे कहते हैं अजरो अमरो अमृत तीन विशेषण दे दिया जरा नहीं है मृत्यु नहीं है और ये अमृत अमृत कहने से ये जो काम कर्म इत्यादि को मृत्यु कहा जाता है अविद्या तो हुआ आगे काम कर्म ये काम कर्म इत्यादि को स्वयं मृत्यु कहा गया तो ये काम कर्म मोह इत्यादि नहीं रहेगा ये मृत्यु नहीं रहेगा तो अमृत्यु ये नहीं है तो अमृत अमर का अर्थ मृत्यु नहीं है और अमृत मृत अर्थात ये मृत्यु नहीं है मृत्यु अमृत में तो मृत धातु से निष्ठा किया गया तो मृत न मृत इत अमृत तो अमृत शब्द का अर्थ अविद्यमान काम कर्म मोह जिसमें जिसमें काम कर्म मोह इत्यादि नहीं है तो मृत शब्द का अर्थ हो जाएगा काम कर्म मोह तो नहीं है जिसमें ये तीन विशेषण दिया जो अजर है अमर है और जिसमें काम कर्म मोह इत्यादि नहीं है नहीं होने से वो पदार्थ अभय होगा क्योंकि जिसमें काम कर्म मोह नहीं है उसमें भय नहीं रहेगा ये भय क्यों होता है ये तो काम हाँ। से भय होता है भय का वास्तविक अंग्रेजी में कहते हैं ना फियर ऑफ लूजिंग अर्थात हानि हो जाने का भय भय शब्द का अर्थ हानि हो जाने का भय हानि किसका हो जाएगा कुछ है जिसका कुछ नहीं है उसका भय नहीं होगा इसलिए कहा अगर अमर अमृत तीन कह करके अभय कहते हैं टीका में विशेषण त्रयम कौटस्थ्य व्यवस्थापनार्थम तीन विशेषण दे दिया एक नंबर टिप्पणी अजर आदि इत्यर्थ अजर अमर अमृत ये तीन विशेषण दे करके कौटस्थ्य का व्यवस्थापन करते हैं ऐसा तो कूटस्थ है अजर अमर अमृत ये जितना निश्चय होगा उतना कूटस्थ निश्चय होगा जन्मादि संबंधाभावे कारणम अविद्या संबंध राहित्यम दर्शयते ये अजर क्यों हो गया अमर क्यों हो गया अर्थात जन्मादि का संबंध इसके साथ नहीं है जन्मादि संबंध का अभाव है जन्मादि संबंध अभाव का कारण क्या है जन्मादि संबंध अभाव है किम कारणम कहते हैं अविद्या संबंध राहित्यम ये हो गया कारण अविद्या का संबंध नहीं है तो जन्मादि नहीं होगा राहित्यम दर्शयती भाष्य में कहा मंत्र दिया अभयम अभय आत्मा होने से पुंगलिंग अभय आगे टीका में न खलु अविद्या तत्र कारण संबद्धम अनुभवति संबंध संबंधम अनुभवती न खलु अर्थात खलु अर्थात ये अवधारणा अर्थ में अविद्या तत्र तत्र आत्मनि आत्मनि कारणत्व अविद्या संबंध प्राप्त करेगा ऐसा नहीं है जैसे जगत में कारणत्व अविद्या संबंध को प्राप्त करेगा क्योंकि जगत का कारण अविद्या अज्ञान माया किंतु आत्मा में तेन अविद्या आ जाएगा अर्थात आत्मा का कारण अविद्या होगा इस प्रकार की नहीं पूर्ण तेन कारण अनपेक्ष क्योंकि आत्मा पूर्ण है पूर्ण होने से उसका कारण का अपेक्षा ही नहीं है कारण होता तो माया शब्द प्रति कारण भाष्य में कहा एक उसका कोई कारण नहीं चाहिए कारण नहीं चाहिए तो एक रहा ठीक है हमें द्वैता द्वैत अर्थम अवधारणम ननु अविद्या निरस्त न तो अविद्या निराश्रय तो अनुभवते द्वैत अद्वैत व्यावृत्ति अर्थम अवधारणम अवधारणम कहा दिया भाष्य में मंत्र में दिया ना एक एव अद्वय मंत्र में जो कहा एक एव अद्वय तो एव कार्य अवधारण करता है ये अवधारणा क्या करता है कहते हैं द्वैत अद्वैत व्यावृत्ति अर्थम द्वैत और अद्वैत अद्वैत का भी व्यावृत्ति कर देगा अद्वैत क्या है अद्वैत में एक नए समास है तो अद्वैत का अर्थ हो जाएगा न द्वैत इति अद्वैत तो नए कहने से एक अभाव को कहता है तो अद्वैत का अर्थ हो जाएगा द्वैताभाव तो अगर अद्वैत का अर्थ हो जाएगा द्वैताभाव तब आप कहेंगे एक आत्मा है उसमें द्वैत तो नहीं है किंतु द्वैता भाव है तो द्वैता भाव अगर होगा नया एक लोग कहेंगे अभाव के पदार्थ है उसको लेके द्वितापत्ति होगा एक आत्मा है और एक द्वैता भाव है दो हो गए तो दो हो जाने से अद्वैत कैसे होगा फिर तो इसलिए कहते हैं कार कहते हैं कह करके द्वैत और अद्वैत ये दोनों का व्यावृत्ति करते हैं दोनों नंबर टिप्पणी देखिए द्वैता द्वैत अद्वैत द्वैता भाव नए एक लोग मानेंगे भाव पदार्थ नहीं मानेंगे तो ये वेदांत लोग कहते हैं कि भाव अभाव अर्थात तो कोई दूसरा है ही नहीं कुछ नहीं वेदांत लोग तो ऐसे अभाव को अलग पदार्थ नहीं मानते तो अधिकरण रूप ही है तो द्वैत अद्वैत अद्वैत द्वैता भाव अद्वैत शब्द का अर्थ द्वैता भाव तो स्वपी न तत्र स्वरूप अतिरिक्त आत्मा का स्वरूप से द्वैता भाव कुछ अलग पदार्थ है अद्वैत कुछ अलग पदार्थ ऐसा नहीं है वो आत्मा ही है निवृत्ति आत्मा मोह से ज्ञातत्व न उपलक्षित ऐसे शिक्षुकी में कहते हैं तो ये जो अं, मोह का निवृत्ति अविद्या निवृत्ति निवृत्ति एक अभाव है तो ये वेदांति लोग कहेंगे पूर्व पक्ष कहेगा देखिए एक अभाव है और एक अधिष्ठान आत्मा है दो हुआ तो इसलिए सिद्धांति कहता है कि जो आत्मा का मोह अज्ञान अज्ञान का जो निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति वो ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा अज्ञान का निवृत्ति आत्मा है किस प्रकार की आत्मा ज्ञात तो आत्मा कहेंगे ठीक है तो आत्मा में अभी अज्ञान निवृत्ति नहीं आया अभाव नहीं आया किंतु ज्ञात तो आत्मा हुआ आत्मा में ज्ञातत्व तो आया अभाव पदार्थों को हटा दिए किंतु विभाव पदार्थ आ गया इसलिए कहते हैं ज्ञातत्व न उपलक्षित ज्ञातत्व न विशिष्ट नहीं अर्थात आत्मा में ज्ञातत्व तो रहेगा ये नहीं है ज्ञातत्व न उपलक्षित जैसे कहते हैं काकवत देवदत्त से गृह काको वहाँ उपलक्षण जब काक तो नहीं रहेगा तो भी गृह रहेगा इसी प्रकार की ज्ञातत्व ये नहीं रहने पर भी आत्मा रहेगा ये ज्ञातत्व कब रहता है कहते ब्रह्माकार वृत्ति होती है जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है तब तो फिर होता है हाँ मैं हूं इस प्रकार की विषय हो गया ब्रह्माकार वृत्ति का विषय हो गया ब्रह्म तब तो कहा जाएगा ज्ञातत्व तो वहां विचार लाते हैं कि जब ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रहेगा तो फिर अज्ञान हो जाएगा कहते ना ज्ञातत्व ना उपलक्षित है एक बार अगर ज्ञान हो गया तो एक बार देवदत्त गृह ज्ञान हो गया का चला जाने पर भी कोई हानि नहीं है इसलिए कहते हैं ज्ञातत्व ना उपलक्षित आत्मा टीका में आगे टीका में द्वैत अद्वैत व्यावृत्ति अर्थम अवधारणम एवकार दिया इसका द्वैत का अद्वैत का इस सबका व्यावृत करने के लिए न तो अविद्या तो अनुपत्ति है ननु है ना हाँ। ननु ननु अर्थात पूर्व पक्ष कहेगा पूर्व पक्ष कहेगा कि अविद्या या निराश्रय तो अनुपत्ते अविद्या तो कोई ना कोई उसका आश्रय होना पड़ेगा और आश्रय अंतर से तो असत्व कोई अन्य आश्रय तो नहीं है इसलिए अभी अविद्या कहाँ रहेगा कहीं आत्मा में ही रहेगा तो रहने से ये कहाँ अद्वैत तो हुआ अविद्या तो रहेगा अविद्या निवृत्ति का तो बात हो गया अभी पूर्व पक्षी कहते अविद्या को तो रहना होगा तत्रेव सा प्रविशति चेत यहाँ तो पूर्व पक्ष हुआ ननु अविद्या से पूर्व पक्ष आरंभ हुआ तत्रेव तत्रेव तत्त्मनि सा प्रविशति प्रविशति अर्थात आश्रय तो ये अविद्या आत्मा में ही फिर आश्रय करेगा चेत सिद्धांति कहता है कि सत्यम यहाँ से सिद्धांत कहते हैं सत्यम तो अविद्या आश्रय करेगा किंतु किसका दृष्टि से अविद्व दृष्टिया तस्या तत्र प्रवेश वस्तु दृष्टिया नाशो तस्मिन प्रवेश प्रभवती इत्याह अद्वय अविद्वान का दृष्टि से आत्मा में अविद्या का प्रवेश होने पर भी अर्थात आत्मा में अविद्या है क्यों कहता है कि ब्रह्म को मैं जानता नहीं हूँ मैं जानता नहीं हूँ अविद्या मेरे में है इस प्रकार की वो कहता है तत्र प्रवेश अपनी तत्र आत्मनि अविद्या का प्रवेश आत्मा में होने पर भी वस्तु दृष्टिया वास्तव तो नाशो तस्मिन प्रवेश प्रभवती वास्तविकता आत्मा में ही अविद्या नहीं है न प्रभवती न समर्थ भवती इसलिए वाष्य में कहा अद्वय इति आत्मा का कोई अद्वय है इसका अठारहवा श्लोक का उच्चारण करेंगे सङ्कल्पो विनिवर्तते तद्ग्रे चायतन्नं तद्वात्माविष्ठयः ॐ पूर्णमदः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शङ्करं शङ्कराचार्य